कहेगा मैं बुद्धि से मन के द्वारा रचा हुआ पदार्थों को देख रहा था स्वप्न में तुमने जाना ना इस बात को कि मैं बुद्धि से देख रहा हूं समस्या ये होगी अगर बुद्धि को कौन देख रहा था उसमें कहा से प्रकाश आया आपको हार गया तत्र हमेव परम कंजोति ही रह जाए उस बुद्धि को भी देखने वाला उस बुद्धि को भी अनुभूति सुशुद्धि का आनंद अनुभूति का जो रिकॉर्डिंग करने वाला कौन था वहां नहीं वही परम ज्योति है तदस्मी प्रभो उसी को लेकर कह रहे हैं देखो सूर्य तस्व भाषा उसी के प्रकाश से दीप्ति से इधम सूर्यादि जगत विभाती सूर्य संपूर्ण जगत उसी से भाषित हो रहा है यद एवं जिसलिए ऐसा है तदेव ब्रह्म भाति च भाति च इसलिए वाक्य में क्या है वही ब्रह्म भाषित हो रहा है सामान्य रूपेण और वही ब्रह्म ये सूर्य विशेष रूपेण भी भाषित हो रहा है इनके सब जड़े भाषित कौन हो रहा है सामान्य रूपेण भी वही है विशेष रूपेण भी जैसे आप देखते हो आजकल के साइन बोर्डों में देखिए आजकल विशेष साइन बोर्ड आ गए लाइट वाले पूरी लाइट ही लाइट होता है ग्लास से पतरा आकर होता है स्टार दे दिया पूरा एक सामान्य लाइट भी है और हाँ? आपने जहाँ आपने जो रंग रंग चढ़ा रखा है उसे विशिष्ट प्रकाश भी दिया तो सामान्य प्रकाश और विशिष्ट प्रकाश दोनों कौन है वही है कुछ दूसरा क्या नहीं तो इसीलिए इसी प्रक्रिया पर वास्तव में यही ब्रह्म सामान्य प्रकाश है और सूर्यात विशिष्ट प्रकाश भी वही है उसके प्रकाश अलग के दूसरा प्रकाश ही नहीं कहने का तात्पर्य है जो कुछ सामान्य भान है या विशेष भान है सब कुछ उसका इसे कहते हैं कार्यगत विविधे भाषा कार्यगत विविध भाष प्रकाश के माध्यम से विभाति भी वही है और कार्यगत सामान्य भाष के द्वारा भी भाषित वही है अतः तस्य ब्रह्मणो भारूपत स्वतोपगम्य लेकिन वो भारूप कैसे जाना है वह ब्रह्म की भाष से ये सब बाधित हो रहे हैं ने वाला हूँ मैं उस ब्रह्म को प्रकाशित कर रहा हूँ ऐसा किसी को अनुभव नहीं आता जैसे आपको समझ मेरी बुद्धि खराब है क्यों खराब है भाई तुमने जाना ना फिर इस मतलब तुम अपने से बुद्धि को अलग देख रहे हो और कह रहे हो मैं अपनी बुद्धि को देख रहा हूँ आज मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है आज मेरी बुद्धि बहुत अच्छी थी इसे जो सुना सब पकड़ लिया आप अपने से भिन्न बुद्धि होने के नाते सब समझ रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं इसलिए ज्ञापन हो गया ऐसे बुद्धि का प्रकाशक मैं अलग हूँ और मेरे प्रकाशक बुद्धि मेरे से अलग है केवल मन वगैरह सारी चीजों में लेकिन ऐसा कभी आपको मैं अपने भ्रम को देख रहा हूँ मेरा भ्रम ठीक है इस समय है ऐसा कभी आपको किसी विद्वान से या आपको कभी ऐसा अनुभव होता है मेरी आप हो गई बोलेगा मैं पापी हूँ मतलब तो पाप का अध्यारोप करके कह रहा है इन वाक्य में किसी को ऐसा अनुभव नहीं होता अतः वो कहना पड़ता है अशकत्व सो तो ये बोध होता है प्रकाश स्वरूप है उसको किसी अन्य साधनों से हम नहीं जान पाते हैं जैसे ब्रह्म रूपी वस्तु से हम सबको जान पा रहे हैं वैसे किसी अन्य वस्तु से ब्रह्म को हम जान नहीं पाते हैं यदि ऐसा परंपरा मान ले तो अनवस्था हो जाएगी असंभव अनुभूति का विरुद्ध भी है नहीं स्वतो अविद्यमान भाष आज स्वयं देख लीजिए जो स्वतः अविद्यमान भाष है पर दूसरे में प्रकाश को कैसे डालेगा स्वतः जो बल फ्यूज है वो कहा से जगत आदि को प्रकाशित करेगा फ्यूज वाला बल्ब कहीं प्रकाशित करता है जैसे कभी कभी आप लोग के दिमाग फ्यूज हो जाता है नहीं तो आपसे पूछते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे प्रश्न ही नहीं समझ में आता आपको वह उत्तर जो था जो जवाब तो उसका प्रकाशन नहीं कर सके लेकिन आपके अंदर है लेकिन बुद्धि उस समय विफल हो गई उसी प्रकार यदि यह ब्रह्म के स्व प्रकाशकत्व विफल हो जाए यदि स्व प्रकाश न होता तो दूसरे को कैसे प्रकाशित कर दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकेगा इसलिए कहते हैं नहीं स्वतः अविद्यमान भाषण अन्य से तुम शक्य जो स्वतः अविद्यमान है वह अन्य से भाषण कर तुम नहीं सकता वह अन्य का भाषित नहीं कर सकेगा घटा नाम अन्य भाषक आदर्श का जैसे घटाजियों को देखो वो दूसरे को भाषण करा पाते हैं क्या नहीं कर सकते भाषक तो भी नित्य स्थापित नहीं हो पा रहा तो सूर्य को हम भाषक नित्य कहाँ है अनेक प्रकार से आप देखते हैं रात में तो रहता नहीं नित्य कैसे माना जाए नित्य एक स्वरूप वाला वो नहीं अनुभव में आ सकता कोई भी प्रकाशक वस्तुओं को भी घटाजियों को तो क्यों कहना है प्रकाशमय पदार्थ जिसको मैं मान रहा हूं उनके भी प्रकाश तो नित्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है अतएव कहते हैं ये घटारी जैसे अगर अन्य अवभाषक नहीं होते घटारी नाम अन्य अवभाषक तो अदर्शनाथ भारूपाणी आदित्यादि नाम तक दर्शनाथ और भारूप आदित्यादियों के अंदर देखने मिलता है वे तो अन्य अवभाषक हो रहे हैं अतः निश्चय हो गया जो विद्यमान अवभाषक है वही अन्य को अवभाषण सकता है और ये नित्य विद्यमान बाधक है यदि सूर्य से भिन्न ब्रह्म होता और सूर्य उसको प्रकाशित कर देता फिर तो हम उसको भी जगत कोटि में रख देते ब्रह्म को लेकिन सूर्य का भी अवभाष इसलिए मानना पड़ता क्योंकि सूर्य उसे अवभाषित नहीं कर पा रहा है तो दर्शना देखो देखो ब्रह्म मृदम भस्तात ब्रह्म पश्चात ब्रह्म रक्षण तस्ोत्तरेण अधश्चौर्ध्वज ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम कहते हैं जो ज्योतियों का ज्योतिर में ब्रह्म बताया गया वही सत्य है सकल विकारों से रहित है इत्यादि पहले जो बताए थे उसी और स्पष्ट करते हैं निगमन स्थानीय मंत्र निगमन के समान प्रतिज्ञात पदार्थ का ही पुनर्निर्णय कथन करने का नाम निगमन होता है ब्रह्म इदम सर्वम ब्रह्म ही क्या है यह सब कुछ है अमृतम और ब्रह्म ही अमृत है अमृत स्वरूप यह ब्रह्म ही सबके आगे भी है पुरस्तात वही ब्रह्म पीछे भी है पश्चात ब्रह्म दाया और है दक्षर उत्तरेण बाई और भी है अधश्च ऊर्धन नीचे भी है ऊपर भी है प्रसृतम सर्वत्र फैला हुआ है ब्रह्म ही इदम विश्वम इदम वरिष्ठम अधिक और क्या कहा जाए यह संपूर्ण विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ वो ब्रह्म ही है भाष्यकार ये त्योतिषाम वह यह जो ज्योतिर्मय पदार्थम का भी सर्वभूता ज्योति वह ब्रह्म ही है जो कहा गया था तदेव सत्यम वह ब्रह्म ही सत्य है तद विकारम वाचारमण विकार और वह कहते हैं वास्तव में कोई विकार नहीं वह त्रिकाल अभाव जो सत्य स्वरूप है इसे उसके विवर्त है विकार यहाँ पर विवर्त है उसके ये विवर्त रूपा है क्या विकार कि वाणी का विलास मात्र है नाम कथन के सिवा और कुछ नहीं है अंधकम इतना इसलिए ब्रह्म से भिन्न जो कुछ भी है वह सब अंतम यदि अर्थम विस्तरेण हित तो प्रतिपादित यही बात को विस्तार रूप से विभिन्न प्रकार के आविसन्नितम इत्यादि हेतुओं के विशेषणों के द्वारा सूचित कर प्रतिपादन कर दिया है अतः निगमन स्थानीय मंत्र पुनरुपसंहरती निगमन स्थानीय मंत्र के द्वारा अब उसका उपसंहार किया जाता है प्रतिज्ञा हेतु है ना उदाहरण उपनय और निगमन कोई भी वस्तु युक्ति प्रदर्शित करनी है तो पंचावय मानते नहीं आएगी लोग और हम लोगों की आदत ही माना गया है वेदांत में आदित्य या अंत्यत्रय को ही मानते तो अंत्यत्रय का पक्ष ले लेना उदाहरण उपनय और निगमन निगमन स्थानीय मंत्रेण पुनः उपसंहरण है ब्रह्म उक्त लक्षण इदम प्रस्ताव जो उक्त लक्षण वाला ब्रह्म है वही यह है जो हम सब के सामने है अग्रे ब्रह्म अविद्या दृष्टि नाम प्रत्योभाषमानम तथा क्योंकि जो है ब्रह्म ही अविद्या दृष्टि वालों के लिए सामने है अलग से है स्व से भिन्न रूपेण विविध रूपेण अवभाषित होता है तथा इसी प्रकार पश्चात ब्रह्म दक्षिण स्त्रोत्रेण तथैवागस्ताद ऊर्धंच सर्वतो अन्य इव कार्याकरण प्रसृत सर्वदा जो कुछ भी कार्य आकार में बाहर में फैला हुआ है वह तो यह ब्रह्म ही है प्रगतम नाम रूपवत अवभाषमान नाम रूप वाला होकर भाषित होता है जो कुछ भी कार्य रूप जगत यह सब उसी का विवर्त है समझो किम बहुना ब्रह्म इदम विश्व समस्तम तो और अधिक क्या कहा जाए ब्रह्म ही यह समस्त विश्व है इदम जगत संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है रज्जु से भिन्न जैसे सर्पणी होता यह ब्रह्म से भिन्न अधिष्ठान से भिन्न कोई भी वस्तु कल्पित वस्तु हो नहीं सकता वरिष्ठम वरतम इसलिए यह वरिष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अब्रह्म प्रत्यय सर्व अविद्या मात्र जो कुछ भी अब्रह्म प्रत्यय हो रहा है वह सब के सब अविद्या मात्र है जैसे रज्जु में सर्व का ज्ञान ब्रह्म एकम परमार्थ सत्यमिति वेदानुशासन इस वेद के द्वारा यह अंतिम उपदेश यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ सत्य है समझो बाकी जो कुछ भी है तो अपारमार्थिक है मिथ्या है इन जगह सामानाधिकरण ने प्रयोग बहुत किया है है ना ब्रह्म इदम अमृतम ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणता ब्रह्म उत्तरेण सब सामानाधिकरण ने प्रयोग जहाँ पर करते हैं तो सामानाधिकरण को समझना चाहिए चार प्रकार का सामानाधिकरण विचार किया हुआ है नीचे टिप्पण में विस्तार से है मैं आपको बता दूंगा तो देख लेना एक है बाधा सामानाधिकरण कहते हैं बात पूर्वक साम्राज्य में प्रयोग होता है जैसे चोर वयम स्थान हूँ ये ढूंढ क्या है चोर है कह दिया लेकिन बाद में तो देखा नहीं तो चोर नहीं तो ढूंढ ही ढूंढ होगा तो बाद हो रहा है रज्जु सर्प इत्यादि भी है, ये सब बात करने वाला है हम सर्प इत्यादि तीसरा हम करके जो वृष्टि भाव वाला रह करके भी बोल रहे हम ब्रह्मास्मि ये भी बात समानाधिकरण जो अहम बोध जो व्यक्ति है वह शुद्ध ब्रह्म नहीं है जो जीव है ना स्वपालिक वस्तु है लेकिन वहां पर बाल पूर्वक जो है निरुपाधिक वस्तु को दूसरा आध्यात्मिक साम्राधिकरण अध्यास सामनाधिकरण सिंह मानव मानव में सिंह का अध्यास धर्माध्यास करके अध्यास यहाँ अर्थाध्यास नहीं है धर्माध्यास है अध्यास दो तो है एक अर्थाध्यास है एक धर्माध्यास है अर्थाध्यास वस्तु को ही आपने मान लिया जैसे शरीर को ही आत्मा मान लिया ये क्या है अर्थाध्यास तत्व अवच्छिन्न कर दिया इस शरीर ये अर्थाध्यास जो पूर्व है जिसका बाद हो जाता है बाद सम्राट और सिंह मानव का तो ये यद काल में ग्रहण कर रहे उसी काल में बाधित है ही जिस समय आप बालक को सिंह कह रहे हो उस समय ही वो बाधित हो चुका है लेकिन वहां धर्म का अध्यास अर्थ का अध्यास इसलिए नहीं मान सकता कि यहाँ शब्द ग्रहण काल में ही अर्थ का अध्यास खत्म हो जाता है बाधित हो जाता है अथवा केवल धर्माध्यास मानते हैं उस तौर में हम आध्यासिक और दोनों वाला कर दिया अर्थाध्यास वाला जो सामाजिक ग्रंथ है उसका नाम रख दिया बाद सामान्य उसका अर्थ अध्यास साम्राज्य नहीं कहते हैं बाद और जो धर्माध्यास वाला है उसको कहेंगे अध्यास साम्राधिकरण नियम ये नाम रख दिया गया तीसरा है विशेषण विषय को साम्राधिकरण जैसे नीलम उत्पलम कर दिया नीलवान उत्पल है नील तो उत्पल नहीं है परिणाम साम्राज्ञ जो उत्पन्न हो लक्षणापूर्वक ग्रहण करता हुआ साम्राधिकरण नियम ऐक्य विषय साम्राधिकरण नियम तत्व असी इत्यादि में जैसे स्वयं देवदत्त इत्यादि जितने भागत्या लक्षण वाला प्रकरण आता है जड़ जड़ लक्षण वाला विषय आते हैं अथवा जहाँ पर जो ऐक्य विषय उसको कहते क्या साम्राज्य जैसे दृष्टान्त है लौकिक में प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वेद वेदांत में सत्यम ज्ञान अनंतम है उसे भी एक विषय साम्राधिकरण है इसलिए तो एक है एक विषय ही है वो सब शब्द तो एक विषय साम्राज्य करके विचार किया गया चार प्रकार करना ज्यादा उचित बनता है अब कहते हैं कि भाई ये पारा विद्या भी हो गई अपरा विद्या भी कह दिया पूरा तो काम खत्म हो गया अग्रिम मुंडक क्यों है दो मुंडक में सारा काम हो गया प्रथम मुंडक में अपरा विद्या द्वितीय मुंडक में परा विद्या हो गया अब तीसरा मुंडक किस लिए अवतरण का में भाष्यकार कहते हैं परा विद्या उक्ता तदक्षरम पुरुषात्यम सत्यम अधिगम्य थे परा विद्या कह दी गई है जिसके द्वारा आप पुरुष नामक व सत्यभूत अक्षर तत्व को ग्रहण कर लेते हैं ये अधिगमे जिसके अधिगम होने पर क्या होता है वो भी फल में बता दिया हृदय ग्रंथ्या संसार कारण से आत्यंतिक विनाश हृदय ग्रंथि आदि रूपा जो संसार का कारण है उसका आत्यंतिक नाश हो जाता है दर्शन उपाय उस दर्शन के साधन में बता दिया धनुराज उपादान कल्पना यह उक्त धनुर प्रणव को इत्यादि नाम लेकर के जीव ही बाण है इत्यादि कहकर उत्पाद के द्वारा ये दृष्ट ग्रहण करके तद्वारा उस कल्पना से ही साधन का वर्णन कर चुके हैं और उसमें पहले परगमंडक में अपराध की सारी कहानी हो चुकी थी इसलिए परापरा विद्या जो कुछ विचार विषय था वो तो समाप्त हो चुका है तो अब क्या करने जा रहे हो और इधानी अब उसके अनंतर इस समय हम क्या करने जा रहे हैं ये जो साधना है प्रणव जिसको बताया गया था जिस प्रणव रूपी ध्वज पर चढ़ाकर जीवात्मा को ब्रह्म में बुद्धा ब्रह्म लीन कर दो वो कैसे करूंगा उसके सहकारी साधनों को जानना पड़ेगा ना क्योंकि हर कोई व्यक्ति सीधे पड़ो का प्रयोग करके लक्ष्य भेदन करने में समर्थ नहीं जीव ब्रह्म ऐक्यता को करने में सामर्थ्यवान नहीं होते हैं तो ऐसों के लिए अगला मंदाधिकारी के लिए अपराधित हो गया उत्तमाधिकारी के लिए पराधित भी हो गया जो न मंद है ना उत्तम है मध्यम वाला है उसके लिए अब यहाँ से आरम्भ होता है मध्यमाधिकारी का प्रकरण है इसलिए कहते हैं तत् सहकारी सत्यादि साधना वक्तव्य तद अर्थम उत्तरारंभ उत्तर ग्रंथारंभ उसके जो सहकारी है ये धारणा कैसे करूंगा जब तक आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब मजबूत नहीं है तो धारणा कैसे हो जाएगी और उसका खतरे आसन प्राणायाम कैसे होता वो भी सही नहीं होगा जब तक यम नियम का पालन इसलिए सत्य आदि जो यम नियम है उन्हीं को यह कथन करेंगे और उसको कथन करने के लिए भूमिका पहले बताएंगे क्यों ये जरूरत है भाई मध्यम अधिकारी थोड़ा कुतर्की होता है मंदाधिकारी तो सीधा होता है और उत्तमाधिकारी भी बहुत सीधा होता है दोनों ही बहुत सीधे होते हैं ये मध्यम अधिकारी बहुत खटपटी होता है बहुत खटपटिया होते हैं ये बहुत तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले होते हैं मंदाधिकारी कर्म करो वो कर दे हाँ जी महाराज ठीक है आपने कर दिया हमने कर दिया छुट्टी होती तो जैसे को वैसे करती जाए क्योंकि उसके अपने अकल को है नहीं विशेष और बड़ी श्रद्धा रहती है ऐसे लोगों में जैसे कहोगे वैसे कर देंगे और अधिकारी है वे सारा परीक्षा लोग का वाला वो सबको जानता है इसलिए जो वो भी बिल्कुल पक्का रहता अपने मामले में और कहता है भाई गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ जैसे कहेंगे वैसे करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा इसलिए मंदाधिकारी बहुत आसान है वो भी मोक्ष आसानी से पाएगा स्वकरणात सिद्धि में दति मानव वाली बात है और मंदारी कार्य तो बहुत ही झटिति मुक्ति पा सकता है लेकिन उसकी मुक्ति में मारा लगाते नहीं वो गड़बड़ है उसको समझाते नहीं स्वकर्णतम अभ्यर्च करो वो नहीं बताते कर्म करने तो बता दिया उस कर्म का समर्पण नहीं बताते ईश्वर परिधान को नहीं बताते समस्या यहाँ आती है नहीं तो मंदाधिकारी साधुओं से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए इसलिए साधु लोग शायद नहीं बताते उन्हें कोई रास्ता समझते जितने भी साधु समाज अधिकारी यहाँ अधिकार ही ढूंढना पड़ेगा मैं पहले बता चुका ब्राह्मण सन्यासी कितने होंगे आपको वैश्य शूद्र सन्यासी बहुत मिलेगा वैश्य सन्यासी में बहुत मिलेंगे और आज के तो क्षेत्र सन्यासियों की तो बोला बोला चल ही रहा है ब्राह्मण सन्यासी तो ढूंढना पड़ जाते हैं बहुत ही कम मिलते हैं जातिया ब्राह्मणों पर सन्यास लिए की बात नहीं कहता हूँ मैं वास्तव में जो ब्राह्मण सन्यासी की बात तो इसे उत्तम अधिकारी तो अति विरल है अति विरला वाली बात है स्वज्ञानज्ञ अति विरला तो अति विरल है मंदाधिकारी बहुत है लेकिन वो अंधेरे नियम मान्यता अंधा वाली कहानी में फंसे पड़े हैं उनको सही मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा है होलसेल में अमंद में अधिकारी रह गए हैं जो यहाँ आ जाते हैं भोले भटके लेकिन उनके मन दिमाग अंत पर शुद्ध है नहीं तर्क तर्क तर्क करते रहते हैं किसी एक के प्रति श्रद्धा टिकती नहीं सब जो अन्यथा सिद्ध ही होते हैं चार दिन आए चार चार दिन नहीं आए तो आदमी क्या होगा उसका तो ऐसे होने के कारण से उनके लिए कहते हैं भाई तुम पहले यम नियम टीचर पालन करो अपने आप सब सही होते जाएगा लेकिन वो कैसे पालन करेगा वो भी नहीं मानेगा उसे भी तर्क उधर को उधर करेगा इसलिए उसको संसार को समझाना पड़ता है अरे तू क्या है तू समझ पहले तू भी एक चिड़िया है इस घोसले के भीतर शरीर के पेड़ में हृदय भी घोसले के तू एक छोटी सी चिड़िया है और वो भी दूसरी चिड़िया बड़ा है वो तुमको जो है ना हमेशा डरा बड़ा करके देखते रहता है जिसके चक्कर में तुम जो है सब काम करते करते रह रहे हो उसको समझाना पड़ता है ये संसार वृक्ष क्या है तुम क्या हो जब तक तो ये नहीं समझाएंगे तब तक तो वो कुतर को छो, करना छोड़ेगा नहीं और यम नियम में लागू नहीं होता लग नहीं जा सकता अतएव कहते कि देखो हमें ये सहकारी साधन है कौन ये सत्य आदि जो साधन है ना ये सहकारी साधन है धारणा का उन सहकारी साधनों को वक्तव्य कहना चाहिए इस भाव से अगला जो उत्तर ग्रंथ बने ये तृतीय मुंडक को आरंभ करना आवश्यक हुआ प्राधान्य तत्व निर्धारण जब प्रकारांतरण क्रिय थे लेकिन यहाँ भी लक्ष्य क्या है तत्व निर्धारण करना ही लक्ष्य होता है जब मंदाधिकारी को कह रहा हूँ वहां भी तत्व तो चिंतन जरूर करूंगा उत्तमाधिकारी के लिए तो है ही और मध्यमाधिकारी के लिए जो बताते हैं वहां भी तत्व तो को छोड़ के कोई बात नहीं बताई जाएगी इसलिए पूरे कहीं भी आप शास्त्रों में देखें कर्मकांड का बीच में भी घुसा दिया है वेदांत को उपासना प्रकरणों में भी वेदांत बीच में का उपनिषद मिल जाएगी और ज्ञान कांड में तो है भरा पूरा वो तो वही है तो इसलिए कि लक्ष्य को उसको याद दिलाते रहना नहीं तो वो भर जाएगा बेचारा कर्म के कर्म की महिमा आगाध होते तो फिर तो बेकार है ज्ञान ज्ञान छोड़ो ज्ञान ध्यान को कर्म ही लग जाएगा लेकिन उसके लिए वहां पर बताना पड़ता नहीं कर्म तो है लेकिन कर्म से आगे कुछ और है उसके बारे में कथन करना जरूरी इसलिए यहाँ पर भी प्राधान्य रूपेण तत्व निर्धारण किया जाता है प्रकारांतर से किया जा रहा है अत्यंत दुरोगा क्योंकि वह अत्यंत दुरोगा कृतम अभी तत्र तत्र सूत्र भूत मंत्र परमार्थ वस्तु अवधारणार्थ उपन्यास थे यद्यपि एक बार निर्णय हो गया दो बार निर्णय हो गया उसके बावजूद भी वह जगह जगह जो कही गई है उन सबको भूत ही मानते हैं क्योंकि मंत्र है परमार्थ वस्तु का अवधारण करने के लिए इसलिए बारम्बार उपन्यास किया जाता है सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजात तयोरन्य स्वादी स्वात्वती अनस्तन्यो अभिचाकशीरी सुपर्णा सखाया तो चिड़िया है यह अधिकरण एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र इसमें निर्णय करने के लिए अंडक परिषद के कई मंत्रों पर कई अधिकरण बनाए हुए ब्रह्म सूत्र में कम से कम दस बारह अधिकरण अंडक परिषद पर काफी चर्चा इसका किया क्यों मंत्र भाग है ना सूत्रबद्ध है अब इसको समझाना पड़ेगा सही सही नहीं तो फिर सब उल्टा पुलटा आप ले लेंगे शब्दों का इसे ब्रह्म सूत्र का रस पर जोर दिया है द्वा सुपर्ण दो चिड़िया है सयोजा हो साथ साथ रहने वाले एक साथ रहते सदा युक्त है एक दूसरे से बिछुड़ के नहीं चल सकते संसार में सभी वस्तु एक दूसरे से बिछुड़ सकते हैं इन जीव और ब्रह्म एक दूसरे से कभी बिछुड़ नहीं सकते क्योंकि वह जीव ब्रह्म ही है उपाधि के कारण से भिन्न सा प्रतीत हो रहा है ना अतएव कहते हैं ये कभी बिछोड़ने वाले नहीं है ये संयोजक ही नहीं सखायो समान अभिव्यक्ति का कारण इन दोनों की अभिव्यक्ति का साधन एक है कौन शरीर के अंदर हृदय की गुफा है सम्यक प्रकार ख्यांत प्रकाशंत सखा सम्यक प्रकार प्रकाशित होने का जो कारण है जो साधन है जो स्थान है वो एक है समान है अतएव इनका नाम सखा भी पड़ गया दोनों का ये दोनों एक दूसरे के सखा हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को हृदय की गुफा में ही ख्यापन करते प्रकाशन कर डालते हैं सखाय संयोजो सखाय छांद श्लोक है सुपर्ण ये जो जहां जहावादेश वह को लोप जो कर दिया गया ये सब छांद और आगे जब विचार होना चाहो नहीं कि अन्यो अभिचा कशी थी अन्यो के हवाले से होना चाहिए वो नहीं किया या अ पूर्व कर पदार्थ देती वो भी नहीं किया कोई प्रक्रिया छांदस्या होने से कोई प्रक्रिया नहीं हुई समानम वृक्षम परिशस्व जाते समान वृक्ष को दोनों के दोनों ग्रहण किए हुए हैं आलिंगन किए हुए हैं और आश्रित जिसको पहले हो चुके अवाक शाखा बता चुके उर्द मूल अवाक शाखा है ऐसा यह वृक्ष कोई दोनों के दोनों आश्रित किए हुए हैं लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा एक तो तुम हो जो कि आप कर्म फल को भोगते रहते हो त्योर अन्य पिपलम स्वाद अति उन दोनों में से एक वह है जो स्वारूप फलम अपने ही बनाए हुए सुंदर सुंदर जो कर फल रूप प्राप्त वस्तुओं को अति भोगते रहता है और अन्य दूसरा है जो वो अनशन किसी प्रकार का विषय भोग न करते हुए अभिचा थी निरंतर के टकटकाते देखते रहता आप सो भी जाते लेकिन वो देखते रहता है ये सो रहा है वो कभी सोता ही नहीं क्यों उसे सोने का नाम कोई प्रकाश रूप है प्रकाश में नींद आएगी क्या प्रकाश में अंधकार होगा क्या ब्रह्म तो प्रकाश स्वरूप है ये तो उपाधि के कारण से इसका सोने का जैसे हो जाता है नहीं तो ये भी सोता नहीं जीव कहा सोएगा जीव सो जाए तो मामला खत्म हो तो ब्रह्म सो गए फिर तो क्यों जीव ब्रह्म तो एक है लेकिन उपाधि को लेकर व्यवहार होता है कि जीव सो गया और ब्रह्म सदा जगा रहता है क्योंकि अनित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले परमात्मा से चाहिए और कर्म फल का भोग वह नहीं करता हुआ भी केवल इस कर्म फल भोगता और कर्म के करता इसका निरंतर वो देखते रहता है हिसाब किताब रखते रहता है द्वा दौ सुपर्णा मन सुपर्णव शोभन पतनव सुपर्णव सुंदर है पंख जिनके ऐसे ही दोनों के दोनों ठीक ऐसा कर दिया पक्षी सामान्य तो। पक्षी के जैसे पक्षी का सदृश है कैसे पक्ष सदृश है हाँ, हाँ, हाँ तैत्र परिषद आएगा मालूम हो जाएगा है ना ये जो तरह पक्ष दक्षिणा पक्ष है ना प्रतिष्ठा तक आएगा ही नहीं आएगा पक्षी घर बताएंगे कौन सा दाना पंग है कौन बाया पंग उसका पूछ क्या है सब बताएंगे नहीं बताएंगे वहाँ तो तैत्र कई पर्यायों में कई प्रकार से भूर भुआ स्वा लोगों को भी लेकर के पक्षी का आकार बताया हुआ है तो वो पक्षी के समान ये भी है इसलिए इनको इस तरह से कह दिया गया सुपर्णो सयोजा मैने सयोज सहैव सर्वदा युक्त एक साथ सदा सदा युक्त होकर रहने वाले हैं इसलिए इनको सयोज कहा जाता है सखाया मैंने सखाय क्यों समानाख्यान हो समान आख्यान वाले समान नाम वाले क्योंकि आप क्या शब्द नाम को बोलते शब्द को कहते नहीं नहीं समान अभिव्यक्ति कारण आप मने अमर अपने प्रकाशन मरता ये तो समान अभिव्यक्ति का कारण वाले हैं समान है अभिव्यक्ति का कारण जिन दो का उन दोनों को कहते हैं समान अभिव्यक्ति कारण हो जैसे रूप और रस इन दोनों का अभिव्यक्ति कारण कौन द्रव्य आयकों की भाषा में इसलिए रूप और रस को सखाय कहा सकते हैं या नहीं तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो दोनों के अभिव्यक्ति का कारणभूत तत्व तो एक है कौन हृदय रूपी गुफा ये शरीर संदेवम भूतो संतो समानम अविशेष उपलब्ध अधिष्ठान देखो स्पष्ट कर दिया एवं भूतो संतो ऐसा होते हुए ये दोनों के दोनों का समानम अविशेषम समानम वृक्षम परिशस्व जाद समानम ने अविशेषम किस विषय को लेकर आप विशेष कह रहे हो कत उपलब्धि अधिष्ठान उपलब्धि का अधिष्ठान के रूप से ये दोनों के दोनों समान है अतः इनके उपलब्धि का अधिष्ठान बताओ तो कौन है वो जो समान होगा कद एकम वृक्षम एकम वृक्षम वृक्षम इव कहते वृक्ष कोई पेड़ नहीं है वाक्य में यहाँ कहते पेड़ के समान पेड़ है ये अरे सामान्य क्या हो गया कथे सामान्य ही है वो वृक्ष क्या होता है उसको आप उच्छेदन कर सकते हो उसी प्रकार ये अविद्या आदि को उच्छेद कर सकते हो वृक्ष उच्छेद सामान्य उच्छेद की समानता को देखते हुए इसको वृक्ष को दिया गया शरीरम वृक्षम शरीर ही वृक्ष है इसलिए इस शरीर रूपी वृक्ष को परिषद स्वजात परिश्वक्त बंधो दोनों के दोनों इस शरीर में वृक्ष को मानव एक तरह से आलिंगन किए हुए हैं है इनसे अलग नहीं होता इसी के अंदर सजा रहता है कोई न कोई शरीर में सदा चलते रहता है इस तो शरीर इसमें हो नहीं तो सुख शरीर तो है ही है उसके बाद उस शरीर को घूमते फिरते रहता है तभी सुख शरीर में ही दोनों के दोनों विभक्त होते रहते हैं सुपर्ण इव एकम वृक्षम फलोपभोगार्थम जैसे दो पक्षियां एक वृक्ष को आश्रित कर लेती है अपने फल उपभोग करने के लिए उसी प्रकार से अयम ही वृक्ष और ये जो शरीर है ये भी वृक्ष ही है क्यों ऊर्द मूलो अवाक्षा हो फर्क कितना है बाह्य वृक्ष जिस पर चिड़िया बैठ के अपना कर्म फल भोग कर ले रहे हैं उस वृक्ष के पैसा से वृक्ष में अंतर यह है इसका मूल ऊपर है शाखा नीचे उस पेड़ में भी क्या होता है आप पानी कहाँ डालते हो मूल में और जगह कहा है पूरा तो और यहाँ पानी कहाँ डाल रहे ऊपर में तो डाल रहे हैं खाना पीना सब और ज्यादा खाए हो इसलिए ऊर्जा अवाक शब्द वैसे भी है प्रैक्टिकल में खाना पीना दाना कहाँ डालते हैं और कहाँ जा रहा है नीचे की ओर जा रहा है इधर वहां का ठीक विपरीत हुआ ना वहां का मूल नीचे है पानी नीचे डाल रहा है और ऊपर जा रहा है इधर अधो मूल उर्ग शाख हो गया हो और ऊर्ध मूल अवाक शाख हो गया दस शाख हो गया ऊर्ध मूल हो अवाक शाख हो अश्वत्थ हो लेकिन न अश्वत्थ अश्वत्था ये अश्वत्थ आपका विचार अव्यक्त मूल पर अश्वत्थ मैंने जिसका मूल उत्पत्ति का व्यक्तता नहीं है अव्यक्त मूल प्रभाव वाला है क्षेत्र संज का क्षेत्र नाम का है इधम शरीरम कौन पे क्षेत्र में विधि भगवान ने भी इस बात से कहा है क्षेत्र संग क्या सर्व प्राणी कर भराश्रया सगल प्राणियों के अपने अपने कर्म का फलाश्रय होता वस्तु तम परिशुद्ध तादृश वृक्ष रूपी शरीर को आलिंगित बनता सुवर्ण इव अविद्या काम कर वासनाश्रय लिंगोपाध्या ईश्वर क्योंकि सुपर्ण दो स्वर्णों के समान अभी है अविद्या से जन्य कामनाएं कामनाओं के कारण से आपने कर्म कर दिया कर्मों से जन्य है वासना उस वासना का आश्रय जो लिंगा जो शरीर उपाधि उसी उपाधि में आत्मा मन जीवात्मा और ईश्वर दोनों के तय परिश्वत और अन्य उन दो जो परिश्वक्त आश्रत में उन दोनों में से एक क्षेत्र एक कौन है वो क्षेत्र जीवात्मा है लिंगोपाधि वृक्ष आश्रत लिंगोपाधि रूपी शरीर को आश्रित किया हुआ है करके क्या कर रहा है वो पिपलम कर्म निष्पन्नम सुगत लक्षणम फल पिपलम ने कर्म स्व कर्म का फल स्वरूप होता सुख दुखात्मक जो फल है वो स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपक अनेक विचित्र वेदना मने वेदना से मैंने ज्ञान अनुभव इधर ज्ञान को छक रहा है सुख को छक रहा है दुख को छक रहा है नहीं छक रहा है ये सुख दुख को छकते जा रहा है ये इसलिए कहते हैं ये सब क्या है कभी विचित्र वेदनाओं का आस्वाद रूपा होने से इसका नाम स्वादु कर दिया स्वादु अति स्वादु अति मन भक्षियति उपभुंगत अविवेक क्यों अविवेक के कारण से उपभोग करते रहता है अविवेक का उपभोग और दूसरा जो है अनुष्टन अन्य इतर ईश्वर जो दूसरा है ईश्वर है वो क्या है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है और सर्वज्ञ है सत्योपाधि वो भी सत्योपाधि को लेकर रह रहा है नहीं तो उसका रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना वो भी वृक्ष में कैसे रहेगा जो व्यापक वस्तु परिचन्न जाएगा उसमें तब कहते हैं सत्वोपाधीश्वर शुद्ध सत्व उपाधि को लेकर के वो अंतर्यामी बनकर इसके अंदर विराजमान कहा जाएगा नाशनादे दे वह कर फल भोग नहीं करता प्रिय हिता भोज्य भोक्त नित्य साक्षित सत्ता मात्र ये प्रेरिता है अरे प्रेरिता है तो फिर सारा पाप पुण्य वही करवा रहा है तो नहीं नहीं तो ये रहिता का तात्पर्य समझिए असो उभयो हो भोज्य भोक्तो ये दोनों ही भोज्य और भोक्त भाव में विद्यमान समस्त जगत के अंदर यही प्रेरिता बना रहे भी केन रूपे न प्रेरिता नित्य साक्षित्व सत्ता नित्य साक्षित्य नित्य साक्षित्य यद सत्तम अवस्थान तवन मात्र नित्य साक्षित्व रूपी सत्ता मात्र से मैंने कहाता नहीं है करो वो करो प्रकृतम थे स्वस्या कहा कि नहीं कहा ज्ञानवान अपनी भगवान ने कर दिया वो इसीलिए क्यों वो कराते नहीं है हम अपने प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं तो उसके लिए विरोध नहीं करते ठीक है करो ऐसे सूर्य जो है अपने प्रकाश और सत्ता के माध्यम से सबको प्रकाश दे रहा है लेकिन सूर्य तो नहीं कहा तुम चोरी करो मेरे प्रकाश में प्रेरक तो है वो सभी को कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहा है यदि वो ना जगे तो कोई सोए साल सोते रह जाए कहेंगे अरे अभी जैसे कहते हैं लोग अरे अभी आधा घंटा है जगेंगे चिंता ना करो और हाँ, वो जगे ही नहीं तब क्या होएगा चौबीसों घंटा रात हो जाता तो? मुश्किल पड़ेगा ना व्यवहार तो वो जगने के माध्यम से हम सबको अपने अपने कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है लेकिन हम सत्कर्म करेंगे कि असत्कर्म करेंगे विहित करेंगे कि अविहित करेंगे उसमें उसका कोई प्रेरणा का संबंध नहीं है वो अपने प्रकाशात्मक सत्ता मात्र से ही क्या कर रहा है हम सबको प्रेरणा दे रहा लेकिन गलत सलत अच्छा बुरा जो भी कर रहे हो हम अपनी प्रकृति के अनुसार कर रहे इसी प्रकार यहाँ भगवान में क्या है साक्षित रूपी सत्ता मात्र से हमें प्रेरणा देता है तो भला बुरा करने की कोई प्रेरणा नहीं देता वो अपनी संस्कार है अपनी वासनाएं अपने स्वभाव है प्रकृति है जिसके आधार पर हम कर रहे हैं वो केवल करने की प्रेरणा इतने मात्र से कि उसी के सर, उसकी सत्ता के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते ये सूर्य का उगे बिना आपको प्रातः काल हुआ है नहीं तो प्रातः संध्या आदि कैसे करोगे दूसरी प्रेरणा आपने तय कर लिया ना कि सूर्य अमुक समय को उगता है भले आपको दिखाई देना दे उतने समय से पहले आप उज्जत करके कार्य करना शुरू कर देते हैं इसलिए उसके उगना उसका उदय और अस्त ही आपके लिए समस्त कर्म का प्रेरकत्व माना जाता है लेकिन वह सदसद कर्मों का प्रेरक नहीं होता सामान्य रूपेण प्रेरक उसी प्रकार साक्षी रूप से यहाँ पर बैठ करके ये ईश्वर अपनी सत्ता से हमें सकल कर्मों को प्रेरणा करने की प्रेरणा देता करने को प्रेरणा निरंतर देता है लेकिन यहाँ प्रेरकत्व भी सत्ता मात्र प्रेरणा समझो सतो अनस्तन्यो अभिचार वह तो उत्साह अन्यो इसलिए वह ईश्वर जो दूसरा वो अनष्टन अभिचार सीधी पश्चत्यो देवरम बिना कर फलों का किसी भी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व के संबंध की विधा केवल देखते रहता है दर्शन मात्र में तो उसे प्रेरितृत्व नराजवत दर्शन मात्र ही उसके प्रेरित प्रेरितृत्व समझो और कोई प्रेरकत्व उसके अंदर नहीं आ सकता राजा के समान नहीं राजे तो खुद भी लग जाता है ना दूसरों के घर चलो लड़ो मारो काटो बोलता हो फिर भी स्वयं भी लगा हुआ है मारने का आदमी है या नहीं पहले जमाने में राजा लोग स्वयं तो लड़ते थे ना आजकल के जैसे तो है नहीं और अमेरिका बैठा हुआ बोले जा रहा और इधर बेचे मरने वाले मरे जा रहे हैं वो नहीं होता था पहले है कि इसलिए न राजा तो पहला पुराना जमाने का स्थान देना आधुनिक दृष्टान नहीं देना जब खुद राजा लोग लड़ने जाते थे इसे वैसा प्रेरक तो ना समझो यहाँ खुद ईश्वर भी कर रहा और दूसरे को भी तू भी कर ले साथ साथ नहीं ऐसा नहीं है यहाँ इसे कहते न राजक प्रेरितम तो दर्शन मात्र में तस्य प्रेरित समान वृक्षे तोक्त शरीर पुरुष भोक्ता जीवो विद्या काम कर फल रागादि गुरु भाराक्रांत अलापुरी व सामुद्र जय निमग्न निश्चय ध्यात लो अयम एव अहम इत्यादि इत्यादि व्यवहार करता है जब ऐसा है तो आपने कहा एक तो अपने कर्म फल स्वाद फल स्वाद थी उसका विवरण कीजिए वो कौन है वो और किस प्रकार से कर्म फल का भोग करता है वो समझाओ तो व्यक्ति को समझ में आया ना मध्यम अधिकारी को तब समझ में आ गए मेरी कथा हो रही है नहीं तो समझ में आ गए उसको और होंगे तो चिड़िया एक करता होगा कर्मफल भोग करता होगा दूसरा ईश्वर होगा लेकिन वो कर्मफल भोगता जो पहला चिड़िया मई हूँ ये कैसे समझ में आएगा उसको इसलिए इसको बताने के लिए कहे कि देखो समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न अनिशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यम ईशमस्य महिमान वीत शोक ईश्वर के साथ श्वेत शरीर वृक्ष पर रहने वाला यह जीव नामक जो पुरुष है वह क्या है निमग्न ये संसार में डूबा हुआ रहता है और डूबा हुआ होकर क्या कहता है अपने आप को अनिशया और कहता है भाई मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं मैं तो अल्पज्ञ हूँ कुछ नहीं कर सकता अरे आए मेरा बच्चा मर गया बेटा मर गया इतने इतने रोती फिरती रहता है ये हो गया वो हो गया ईशया मुहिय मानो सोचती असामर्थ्य को समझते हुए मोहित होकर के विभिन्न प्रकार का सुखों को प्राप्त करता इन वही जीव यदा तो जब यह ऋषि जुष्टम ईशम अन्यम पश्य ऋष्यादियों के द्वारा ध्यान आदि माध्यम से जो सेवित है वह ईश्वर को और इस जगत को ईश्वर की महिमा है ऐसे समझ लेने पर वीत शोक ईशम पश्य तब जाकर के उसका अपना स्वरूप होता है ईश्वर को अनुभव करता है तत्व सती समाने वृक्ष यथोक्त शरीर है पूर्वोक्त लिंग शरीर आपका शरीर में पुरुषो कौन भोक्ता जीवा उसको लेना है अविद्या काम का फल रागारी गुरु भाग आता हम तो अविद्या काम अविद्या जिन कामना काम जन कर्म कर्म का ही फल होता है राग द्वेष आदि महान भार गुरु भार मैंने महान भार को से आक्रांत है थका हुआ है जैसे बाहर ढोते ढोते आदमी थक जाए वैसे ही से अविद्या काम कर्म फल स्वरूप बाहर को ढोते ढोते भी परेशान है वो कहते हैं सिर्फ गुरु सूची में उगाते रोज परमार्थ निकेतन में पाप बोझे से लदी नैया कहते कि नहीं कहते तो पाप बोझे से लदा हुआ है और लगा हुआ है बेचारा और समुद्र सागर में डूब रहा है नाथ दौड़ो अब बचा लो कहते हैं कौन बचा गए खुद नहीं बचने को तैयार है गुरु हराक्रांत हो वो कैसे डुबकी लगा रहे वही बता रहे रीव सामुद्रे जले अलाबु के समान ये लौकी होता है लौकी एक कड़वा लौकी होता है है ना तुम भी जैसी दिखता है है उसका बीच का माल निकाल दो इधर छेद कर दो तो पकड़ने की जैसे हो जाता है वो जो तुम भी को अलापू कर दे वो तुम भी समुद्र में डालो कहीं नदी में डालो कहीं भी डालो क्या हो जाता है पानी तो भर जाता है फिर भी वो तैरते थे तो कुत्ते काम करते रहते हैं दौड़क दौड़क अंदर जाएगा बाहर है अंदर जाएगा बाहर है तो ये जो लोटा होता है यूं बना करके यूं चौड़ा कर दो ऊपर का हिस्सा तो क्या होता है वो भी ऐसे ही डूबेगा ही नहीं कभी हो जाएगा नीचे ऊपर है जाएगा नीचे ऊपर जैसे तैरना नहीं जानने वाला पहली बार कूद जाए उसका भी यही हाल होता है नहीं फिर बड़ा परेशान हो छटपटाता है तो अलापुर सामुद्र जले निमग्न उसी प्रकार बता हुआ है निश्चय न निमग्न का मतलब क्या निश्चय न देहात्म भाव आप निश्चय भाव से वो यही समझा है मैं ये शरीर मई हूँ क्या निश्चय उसका वही बता रहे हैं देव भाव को कैसे प्राप्त हुआ है अयम हम ये जो शरीर वाला देवदत्त तो यही मैं हूं और अमुष्य पुत्रो मैं अमुख का बेटा हूँ अमुक का पोता नाता हूँ मैं दुबला हूँ मैं मोटा हूँ मैं गुणवान हूँ अरे मेरे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं मैं तो बेकार हूँ सुखी दुखी मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इतम मृत्यु इस प्रकार का ज्ञान कर लेता है नास्ते अन्य और यही सोचते है मेरे से अन्य कोई दूसरा हो नहीं सकता ईश्वर आदि नामक हो त्यार अन्य आत्मा नास्ती इस शरीर से अलग कोई दूसरा आत्मा नाम का वस्तु नहीं है यह मानता है इसलिए शरीर का जन्म लेने से कहता है वो मेरा जन्म हो गया मेरा बर्थ डेट है ये बोलता अरे शरीर का बर्थ डेट को अपना बर्थ डेट मान देता है और शरीर का जन्म दिवस को मेरा जन्म दिवस कर मनाता भी है जबकि आत्मा का न जन्म दिवस है न मरण दिवस शरीर का जन्म दिवस है शरीर का मरण दिवस है तो वही कहता है इसी भाव ये समझ गया वो मेरा इस शरीर से बिन कोई आत्मा नहीं है इसलिए मेरा इस शरीर का जन्म होने से मैं जन्म लिया जायत है मृत है मैं मर गया मैं अमुक से संयुक्त हो गया मैं अमुक से वियोग को प्राप्त कर गया इति संबंधी बांधवी ही इस प्रकार से अपने बांधवों के साथ स्वयं को संबंधी मान लेता है नतीजा क्या निकलता है अतो अनिशया न कस्य चित अहम अनिश्चय मैंने तो यही निश्चय कर लिया हाँ मैं तो कोई भी काम करने का सामर्थ्य वाला नहीं हूँ किसी को ना जिंदा रख सकता किसी को नहीं मार सकता मैं कोई भी काम करने में वाक्य में समर्थ नहीं हूँ कई बार होता है आदमी लगा रहता है कुछ भी नहीं निकलता परेशान हो जाता है कई बार बैठे बैठे सारा काम होते रहता है बड़ा आश्चर्य अब प्रारंभ कर्म भोग प्राप्त होना है तो घर बैठे क्या है तू कोई आगे पकौड़ी खिला दे उल्टी हो गई क्या करोगे घर बैठे कहीं गए नहीं कुछ खाए नहीं पिए नहीं बड़ा प्रेम भाव से किसने बनाया खिलाया क्या अब कर्म फल है ना ये तो कि बाहर गर्मी में घूम के आए भाई इसलिए गड़बड़ हो गया तबियत कुछ भी नहीं होना होता है ना घर बैठे हो जाता है और नहीं होना होता तुम लाने की चेष्टा करो उल्टा पुलटा दुनिया भर खा लो तो, तो हम बीमार पड़ जाए पड़ेगा ही नहीं सब हजम होते रहता है बड़ा आश्चर्य ये हमने अनुभव किया है एक बार स्कूल में बड़ा तंग आएगा बच्चे बड़े कहा क्लास मास्टर बना दे मास्टर कहा तक वो बड़े बच्चों के साथ हमने सोचा उल्टा पुलटा खाओ बीमार हो जाओ चार दिन ठीक रहेगा तो उल्टा पुलटा खाया हाँ उल्टा पेट और बढ़िया हो गया मैंने कैसे करना था चाहते रगड़ता तो यही रगड़े भी खोपड़ी खा यही पे इसलिए हमको बीमारी होने नहीं दे रहा है और अगर बीमार होना नहीं चाहते जब से डायबिटीज आके घुसा दिया क्या क्या करे तो प्रारंभ कर्मानुसार तो सब होता है इसलिए कहते हैं लेकिन ये अनिशिया न कसी समर्थ तो हम पुत्रों में नष्ट हो इसलिए मेरा पुत्र तो मर गया नष्ट हो गया मदान में भारिया मेरी पत्नी मर गई कि मैं जीवित ना मैं जी के क्या करूंगा ऐसे ऐसा उल्टा पुल्टा बकवास करता है इतम दीन भावो अनिशा इस प्रकार की जो दीन भाव है इसी का नाम अनिशा है तया शोच संतप्य उसके कारण से संतप्त होता है शोक करता है शोक भी क्यों हुए अनिशा के कारण से अरे मुही अमारो अनेक अनर्थ प्रकार अभिलेखत चिंता आपद्यमान है अनेक अनर्थ जो उसके साथ विभिन्न प्रकार उपस्थित हो रहा है उसके अविवेक करने के कारण से चिंता से युक्त होकर के उसके अंदर मोह आ जाता है तो यदि विवेक करे तो फिर मोह नहीं होगा मोह का नाशक ही विवेक है इसमें भी सीढ़ी दर सीढ़ी होता है आप कहें विवेक वैराग विवेक हो ही गया फिर मोह हो गया दूर हो गया मोह तो मोक्ष हो गया ना फिर आगे क्यों बोला वैरागी करो साक्षित संपन्न हो मोक्षित हो वहां तात्पर्य विवेक स्वरूप संबंधी मोह निवृत्ति नहीं धर्म संबंधी मोह निवृत्ति धर्म में भी कर्म संबंधी मोह निवृत्ति और ईश्वर संबंधी मोह निवृत्ति दो अलग अलग चीज इसलिए गीता जी में देखोगे पहला शब्द में कर्म संबंधी कर्मात्मक धर्म संबंधी मोह का निवृत्त किया द्वितीय शर्क में ईश्वरात्मक धर्म संबंधी मोह को निवृत्त किया और अंतिम शब्द में सब समझे वहां सिर्फ मोह का निवृत्ति का मतलब यह नहीं हो जाता है कि भाई हम सीधे मुक्ति हो गया मोह की भी अनेक श्रेणी है और उसकी निवृत्ति भी अनेक प्रकार का अलग अलग विवेक से होता है पहले वाले तो इसका परीक्षा काम कर्म चितान इतने मात्र से ही आपको कर्म संबंधी मोह का विवेक अपने आप को जाता है अब मान्य लगो की मैं अलग हूँ ईश्वर अलग है सब अलग है फिर ईश्वर संबंधी मोह तब निवृत्त होगा जब ये निश्चय कर लिया भाई हम इतने कर्म करने के बावजूद भी क्यों दुख भोग रहे इसका मतलब मेरे इस जन्म के कर्म नहीं है जो ये दुख दे रहे हैं कोई और जन्म होगा कि तो और जन्म उसके हिसाब किताब कौन रखा है रखने वाला कोई होगा तो उसी को लोग ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर को स्वीकार करें जो उसको स्वीकार कर लेगा विचार करेगा फिर आगे और विवेक बढ़ता है भाई उस ईश्वर का स्वरूप क्या मेरा स्वरूप क्या मेरे और ईश्वर के बीच में जो दुनिया दिख रही जगत का स्वरूप क्या है जब इनके स्वरूप का चिंतन करने लगेगा इसका विवेक जैसे जैसे होते जाता है अब उसका जीव ब्रह्म की अनुभूति तो क्रमश जा रहा है ना वो इसलिए यहाँ पर भी कहते कि देखो कि वो व्यक्ति भले ही अनेक ಅನೇಕ प्रकार ಪ್ರಕಾರ ಅವಿವೇಕತೆಯ चिंता आपत्यमान स एवं प्रेत तिरंग मनुष्यादि मनुष्यादि योनिषु आजवं जीवी भाव वो निरंतर इस प्रकार से प्रेत तिरंग मनुष्यादि विभिन्न योगियों में आज मन जवी भाव मापन बड़ी शीघ्र और झट झट झट जाते रहता है मौका ही नहीं मिलता अरे एक आध हजार साल मिल जाता आराम से आयु जो है तो शायद अक्कल जल्दी खुल भी जाए और सौ सौ साल में पता नहीं चलता कब बचपन बीता कब जवानी बीती कब बुढ़ापा गया फिर खत्म ही भागता ही आगे पता ही नहीं चलता समझ में आ रहा है पैंतालीस उम्र होगी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं लगता है क्या हुआ है अभी तो कुछ नहीं तो होगा क्या आगे कुछ नहीं होगा क्या कुछ कुछ है नहीं